कि अल्लाह को सजदा नहीं करते जो आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकाल लाता है और तुम जो कुछ छुपाओ और जो कुछ जाहिर करो सबको जानता है